नब्बे पेड़ हजार तो पानी ने हरा देते हजार देते हरा देते हजार देते तो चार बंदे बैठे पूरे सात हजार खाली बना और अपित प्रत्यय को उन्होंने सात हजार वापस से गिरता तो कुल मिला के तीन ही रास्ते हैं धातु से प्रत्यय लगने पर चाहे पिंग प्रत्यय हो चाहे कुछ हो चाहे साधा हो चाहे आधा तीन ही रास्ते बनते हैं एक मार्ग होता है किस प्रत्यय जिसमें आधा तो भूल जाते हैं और साधा तो अपित दूसरा मार्ग है जितने करते और तीसरा मार्ग है चारों से भिन्न करते हुए सामान्य इन तीन में से ही उनको की प्रक्रिया में जाना पड़ता है करते हो तो ये चौथा कोई मार्ग ही पानी तो पानी की आत्मा का हनन हुआ है जो किया है और उसी पे सारा भवन खड़ा होता चला गया एक धातु के दस प्रकार बनाना बिल्कुल एक धातु के दस प्रकार बनाना अभी भी और पानी समझ नहीं है पानी कहते सब धातुओं का एक लगा उन्होंने नेट लगा के अलग अलग पाँच प्रकरण बनाए पाँच प्रक्रिया से एक प्रकरण बनाया अपने आदेश आदेश ऐसा बनाया से उन्होंने पांच अच्छा बनाया उन्होंने पाँच अद्वैत से एक बनाया तो उन्होंने पाँच प्रकरण बना दिए हैं उन पांचों प्रकरणों को पढ़ करके जो सामान्य निकाले जाता है पूरा निकाला उस सब धातु का एक नकार बनाना यही कानून का मंतव्य है एक धातु का नकार बनाने के बाद भगवती बनाता है बच्चा और भगवती से बहुत बनाता है तो एक प्रतिशत भी शामिल अलग अलग रास्ते हैं दोनों तो सात हाथ चार हाथ में जाता आधा तो से सात हाथ में जाता तो चार हाथ चार हाथ में करते करते अंत में उसको रखने के अलावा कोई उपाय जितनी मेहनत जितनी मेहनत में एक विद्यार्थी जितनी मेहनत में एक विद्यार्थी उन धातु से दस हजार बनाता है उतनी मेहनत में हम सारे धातु दस हजार बना सारे धातुओं का एक लगा ये काम हमने किया और दूसरी बात जो गौ गौपाठ है इसकी सीमा नहीं है चार लगाव चार लगाव है हमारे पास निकले और उसके बाद शब्द शानक चानस शानक खशा एश शब्द शब्द हमारे पास क्षेत्र से इतना ही साधारण है क्या पानी का चार लगाव विषय ये समाप्त करने के बाद कर पाठ समाप्त होगा फिर हमको बदल कर देंगे उससे सारे का एक हो जाए सारे का तो हमने दो प्रकार से धातु वर्ग बनाया लाभ धातु वर्ग आध धातु वर्ग आप धातु बिना करते नौ वर्ग एक वहाँ भाई पाक वादियों के पास से और यहाँ से बनाते हैं प्लान से जाना और दाल बनाते हैं बदाल से बनाकर बोलते हैं सारा उनके पास से क्या से दाल से नगों के जरूरत ही नहीं है हमें आवश्यकता नहीं धात्वादेश प्रत्यादेश अभिदेश इरादा और वित्ताभ्यास करें ये पांच उनके उपांग हैं अधिकारी अंगकार को जानने के पहले अंगकार इन पांच को जानने के बाद जो अंगकार जिसको सोचे नहीं हो तो अंगकार क्या करेंगे अभी देश अभिदेश पर ज्ञान नहीं है तो कैसे अंगकार करेंगे तो आप बोलते कितने लगता से चकित हो गए छब्बीस सूत्र उन्होंने बनाए हैं देश एक साथ में इकहत्तर सूत्र उन्होंने बनाए हैं जागरण में एक साथ में एक एक कार्य का एक एक प्रबंध में एक साथ बनाया इतना अद्भुत अद्भुत हमारे कानून का और उसका पूरा गिरा कर धराशायी करते हुए एक रात नहीं नहीं पहले काफी दस्तर सरकार बनाई थी तो हमने हमने वादी दिवादी कुदादी चुरादी चार क्योंकि इनके अंग अदंत हो शब शम शाल पानी ने अंग के दो भाग बनाए वो आत्मा ने प्रदेश बनता है तो अंदर अंग होता है तो झूलता नहीं अदंत में झूलता लगता अदंत अंग होता है तो झूलता तो लगता है अतो गया लगता है आतो बिता लगता है और अतो नील फिर अतो अतो अतो अतो कहकर अदंत अंग को लेते हैं अंतर कहकर अंतर अंग उनके सब पास साफ साफ अंगों के दो विभाग अंगों के दो विभाग है अदंत अदंत इसके आधार पर घर बन जाते हैं भारी दिवाली पुजारी चक्रादि के चार का एक अदंत गर्भम का समूह बनता है और छह का अदंत बनता तो हमने चार को अलग कर दिया छः को अलग हमने जो भगवान बनाया पानी निकाल के जो बच्चों सब कुछ निकाल हमने उसको भुआ के बाद दिवाली पुजारी दिला दिया और बाकी अंकल वाले संख्या रखो लोगों की जरूरतें साथ हो तो प्रत्येक को बाकी आजादी को हमको बहुत की आवश्यकता है तो हमने ये रकारों का जो विक्रम था हमने सब धातु का एक रखा और दोनों के क्रम को हमने बदल के दो हिस्से में और पानी के धातु पात में जो धातु है जितना वैज्ञानिक पानी का सूत्र पात है उतना ही अवैज्ञानिक पानी का धातु पात उन्होंने धातु पात को प्रक्रिया की दृष्टि से कुछ नहीं तो हमने प्रक्रिया अनुसार ही उसको जैसी प्रक्रिया पानी की चलती है उसके आधार पर हमने धातुओं को प्रक्रिया क्रम से अधिक हमने आकाराम विकाराम विकाराम विकाराम क्योंकि पानी नीचे सूत्र चलते हैं अजंत धातुओं में तो अंत के प्रकार का तो सारे अंधकार अजंत धातुओं में अंत जैसे और अजंत धातुओं में उपधा अगर धातुओं उपधातु धातु में अंतिम भर को लेकर अंगकार होते हैं सारे अंधकार ऊर्धव हाँ अंतिम हर को संधि हो अंतिम हल संधि का स्पंदन अंतिम हल अंतिम हल जो है संधि का स्थान बनता है और अंधकार का स्थानीय धनंतर धातुओं में उदाहरण इसलिए हमने उठा के आधार पर धातुओं को अधुपद ऋतुपद ऋतुपद चार वर्ग हमने बनाए हैं धातुओं तो को बारह ऐसे हमने बारह वर्ग बनाते थे सारे धातुओं को मतलब तो हमने धातु पाठ के क्रम को बदल दिया लकारों के तो क्रम को बदल के हमने ये हटा दिया सारे सात धातु प्रकार एक साथ किए सब धातु के एक और दोनों के क्रम को भी हमने बोला तीन काम हमने हुआ तो हम ये करते हैं देखिए हम एक महीने में सात धातु के दस हजार मेरे पास गाँव ले अगर सामान्य अच्छा विद्यार्थी एक महीने पहुँच देता नहीं अच्छा तो सारे यावत धातुओं के दस्तकाल को क्योंकि पूरा का पूरा जो अतीत हुआ है हो उसके आधार पर पूरा भवन पूरा हो गया व्याकरण का सारे ग्रंथ उसके आधार पर खड़े हो गए तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते पर हमने ये पानी का रास्ता बना कर स्वागत करते सुबंध प्रक्रिया को भी कोई आवश्यकता देखिए उन्होंने शुरू किया हकारा पहली बार हकारा से कर शुरू तो कर हंगाम तो पहला व्यंजन है माइनस सूत्र तो में हकार रखा है माइनस सूत्र से प्रत्याहार तो बनाने के लिए उसके अलावा उसका क्या होगा बताइए तो हकार से लेकर शुरू करके हमने हकाराम शब्द से शुरू किया ये इतनी इतनी अनुचित इतनी गलत बात है जिससे गलत प्रक्रिया वही अच्छा दूसरी बात आपने हकार के हकारांत तो प्राधिकरण को स्वतंत्र बनाने के लिए शुरू तक एक ही कार्य नहीं होता अरे संधि होती है वो पानी उनके हलन शब्दों हलन बात शब्दों में से जो उपस्थित हैं वो नकारांत तकारांत सकारांत और बाकी सारे शब्द सभी शब्द खकारांत खकारांत खकारांत खकारांत इसलिए नकारांत तो शब्दों से अहंकार शुरू होते हैं और वो भी उपदाय उसके बाद सारे वो भी उदय से उनके बारे में अत्यंत शब्द असल उनके नकारांत का अंतिम व्यंजन से कोई अधिकार उसका तुरंत मेहनत नहीं होती अब आपके दिवाली में सन्नत राधे सन्नत में क्या हो पास वादी का पिपासा भी बन गया और उस राधे से जिज्ञासा भी बन गया तो क्या मेरे हमारी बात आप सुन रहे हैं किताब में रहे हैं बड़े दुखी हैं पूरे हुआ है कि आधा तो प्रत्यय को बना अनुसार बना बना के हमने छः छः हज़ार रुपये की कोर्ट से सोलह सौ पचास सोलह सौ पचास पेज के उन्होंने बनाया है सोलह सौ पचास पेज का मैं ग्रंथ कोर्स बनाया जिसको मैंने सौ पेज का जरूरत ही क्या है कम कभी नहीं नहीं नहीं कभी नहीं होगा इसलिए कभी स्पष्ट नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सब दिखाई नहीं तो जितना दिखाते हैं उतना ही दिखता है और यदि अष्टाध्याय क्रम से जब पढ़ाते हैं तो हमारे विद्यार्थी को आसमान से धरती तक मुक्त आकाश दिखता है वो अपना दिमाग चलाता है कि क्या करना चाहिए हम एक भी रूप नहीं रखवाते हम केवल को बनाने का विज्ञान बताते हैं प्रत्यय जो है दो प्रकार का होगा या विपरीत होगा या विपरीत होगा या चारों से भिन्न सामान्य सामान्य प्रत्यय की पानी का प्रकार सातवें अध्याय पानी सातवें अध्याय से और ये सुमंत में जितना इन्होंने गोल गप्पा करके छह लिख बना के तमाशा मचाया ये तो बहुत ही वैज्ञानिक है भाई सुबंत शब्दों में जितने इन्होंने विभाग बनाए हैं अगर हुकूक क्लास से लेकर ट्री की क्या जरूरत बताइए चाहे ली हकारांत लीज हो ली हो चाहे हकारांत हो चाहे हकारांत ये सब जो संधि हो रही है चार सूत्र हकारात के लिए पानी इनके पास ये होना दादे दादर का बाथरूम और कुर्सियाँ आप नहीं चार सूत्रों से सारे हकारात तो चार सूत्रों को लेकर के इसकी प्रकृति को वहाँ डाल दिया ना तो प्रकृति को यहाँ डाल दिया और जा के पूरा डिक्शन नहीं कर दिया ये बहुत ही रहा तो हमने सबको हटा के पूरे नहीं हटाए जो छः सूत्र लिंग में हैं उनको हमें शुरू बता दिया कि इससे प्रत्यय नपुंसक से प्रत्यय बताना बस नपुंसक के प्रत्यय बदलते हैं और अलग से पुंगलिंग में कोई उनके बच्चे बदल अलग अलग होते तो हम आपको प्रबंध भेजेंगे तो आप उसको देखिएगा और एक हमारी बड़ी समस्या है अगर आपसे बात होगी तो आपसे समाधान करवाएंगे हम बस यहाँ तो क्षेत्र में कोई है ही जिससे बात करें पूरे ढाई करोड़ के छत्तीस बाद में एक भी आदमी पूछते हम किससे पूछे मटके ये जो नियंत्र प्रक्रिया के अंतिम आया है निवृत्त प्रेरणादारों तो ये जो तो मंडल सुधीर जो होता है ये हम नहीं इसको बिल्कुल नहीं जाता तो प्राकृतिक भविष्य तो इससे क्या होगा कि सब धातु में हो जाएगा क्या क्या क्या होगा निवृत्त प्रेषण का मतलब क्या है ये हमारी सुरक्षा कर रहे मतलब। तो किसी भी धातु में हम को निवृत्त कर देंगे आप हमें इसमें बताइएगा अगर तो प्रक्रिया का अंतिम वाक्य है निरंतर प्रक्रिया का अंतिम वाक्य है हम इस हम आपकी जरूर चाहेंगे ना बताएं क्योंकि हमें इस पर कोई बताएगा क्योंकि आया प्रार्थयन संयोग दिया आप पूरा इसको देखिएगा फिर हम आपसे पूछेंगे क्योंकि हमसे कि समझा यदि ऐसा है तो फिर हम किसी प्रेशर से पता हैं अपना अपना चिंतन करिएगा और हमें बताइए हमें या हमें तो आप बताई ही दीजिए आप लिख लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी सफाई का विषय है और हमारे पास कोई है नहीं इससे पूछा जाए रोज़ कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि में अटक जाता है और हम उसके बाद जाकर बोलते रहते हैं तो बताने वाला यहाँ से इसलिए हमें आप ये हमारे अपनी समस्या है का क्रम इतना अद्वितीय क्रम है और उस क्रम को तोड़ करके छिन्न भिन्न करके जो प्रक्रिया का हमारी इडागल की छोटी सी पुस्तक है बिल्कुल हाँ। संस्था से तो लिखी है इडागल की छोटी सी पुस्तक पूरे मतलब इडागल को हमने मतलब इकहत्तर सूत्रों को सीधा व्यवस्थित करके ध्यान दिया तो सारे अपने आप प्रक्रिया सामने खड़ी हो जाती खड़ा हो जाता से लेकर और सारे सूत्र देखिए एक साथ क्या तो लुंग लकार में एक सा होता है चंद होता है अंग होता है और सिजलुक होता है अक्सा होता है और बचे हुए में सिज होता है इस प्रकार बारह प्रकार के तत्व इनके बनते हैं इस बात का प्रमाण पानी पाणिनि कहते हैं सबको एक साथ वो एक साथ एक साथ सूत्र कहते हैं पूरा अब सिर्फ प्रत्यय बनाना है जिसको सामान्य अधिकार का ज्ञान है वो परस्पर पर संस्कृत में सात सूत्र एक साथ सिद्ध बुद्धि परस्पर पर एक अतोलांतस्य बदल की निरंतर क्षमस्व ज्ञान विश्वेदिता और दोनों वगैरह भाषा को हरा देता हूँ ये सात सूत्र में विशेष बता दी कि आपको सामान्य अधिकार मालूम है तो सात सूत्र लगा दिया पर उसके ऊपर संयम से पूरा बना दिया और आपने पद संयम से बनाना है तो सात सूत्र हम देश के बताते हैं एक साथ वो लिंग शिक्षा बात करने पर एक पुष्ट वाद हनस्थित स्थापन सात सूत्र आत्मने पद के सात सूत्र परसने पद के अगर लागू हो गए तो सामान्य अंदर वाला व्यक्ति सारे का सारा क्लू हुआ ये प्रकरण चिल्ला चिल्ला के कहना है कि सब धातु का एक लकार हुआ सब धातु का एक लकार हुआ तो सामान्य बदल और इतना बड़ा आघात किया इन्होंने मुख्य जी ने पूरी प्रक्रिया बहुत पूरी प्रक्रिया को जंजाल बना के एक जंगल सा बना के धर दिया विद्यार्थी भटकता रहता है और किसी को किसी को अब आप लोग पचे आप लोग पचे हैं पुराने आप लोग पुराने पढ़ने लेते तो पचे बचाए तो आप लोग कर लेते हैं नए विद्यार्थी को तो कुछ नहीं कुछ नहीं आ भी नहीं सकता नहीं तो अष्टाध्यायी तो- अष्टाध्याय अष्टाध्यायी तो ये भी रखे हैं जो राज समाज को नहीं आता मैंने अष्टाध्यायी को प्रक्रिया के ऊपर से अरेंज कर दिया था तो मैं आपको हम जानते हैं गौरव का समय इसलिए आप कब देखेंगे उन्हें पता है कि समय किसी के पास है नहीं हमारे पास कुछ किताबें आ जाती हैं नहीं देख पाते हैं उनको टाइम नहीं कैसे अपेक्षा करेंगे बोलने के अभी हमने सुबंध प्रक्रिया समाप्त की है कल ही समाप्त की हमने सुबंध प्रक्रिया पहले सबसे पहले दुनिया लिंग पूरे लिंग हमने हटा इनको स्वतंत्र प्रक्रिया निरपेक्ष नहीं होती जरूरत ही नहीं दो चार सूत्र लेकर जब लिंगानुसार अगर थोड़ा बहुत करते हैं उसके लिए हम छह दिन को विभाजन करके पूरी प्रक्रिया को विवाद करने आधारित विवाद ये कैसे पढ़ाया जाएगा ये क्या पाठ्यक्रम में आएगा तभी होगा और पाठ्यक्रम में कैसे आएगा पार्टी में इसलिए नहीं आएगा हम्म, सारे पंडित लोग अपने अपने ऊपर लगे हुए हैं उनको नया कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कुछ सोचने का नहीं विज्ञान में देखिए नई थ्योरी जब आती है तो पुरानी अपने आप नष्ट हो जाती है विज्ञान इतनी ईमानदारी से पुरानी थ्योरी को नष्ट कर देता है लेकिन हम लोग जो पकड़ा है तो आपका सुख इतने इतने लोग आए धरती पर आके चले गए जो बी एम ए के सिलेबस बने हैं वो वही तो वही चल रहा है जो अंग्रेज बना देते एम एम एम ए का मतलब है एम ए का मतलब है अवस्थी गुरु जी नमस्ते करते थे एम ए वाली को M A P H D का मतलब है जिसको एक भी अच्छा संस्कृत नहीं आता M A P H D का मतलब जिसको एक भी अच्छा संस्कृत का नहीं आता वो यार पी एच डी है उसको राम शब्द के रूप में आते और पी एच डी हो जाती तो वो ऐसी ऐसी प्रक्रिया बनाई थी अंग्रेजों ने कि आप जिंदगी में सबसे पढ़ोगे आपको एक अक्षर मिल जाए तो वो वो बना के धर गए और ये जो राज्य प्रक्रिया है इसमें इतना बड़ा जंगल बना दिया है इन्होंने दीक्षित जी ने कि वहाँ भी घूमते रहो भूत के घेरे के समय तो इसलिए ये ये मार्ग हमने जो बनाया है बिल्कुल ये जो मार्ग है पानी का बिल्कुल प्रकाशित पथ था एकदम प्रकाशित मार्ग है सब दिखाई पड़ता है विद्यार्थी मुझे दिखाई पड़ता है और विद्यार्थी पंद्रह दिन के अंदर ऐसे प्रश्न कर सकता है कि आप जगह और विद्यार्थी पढ़ने वाला हमने जीवन हमने तो बना दिया हमने तो अपने जीवन का काम कर दिया और तुरंत हमें पूरा जीवन का जो इंडियन लिखा है अब हम इसको हमको इसको संस्कृत में शास्त्रीय तरीके से मिल जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद तो हम इसको आपको हमने रात अधिकारी और हम में लिखा है वो हम आपको एक पुस्तक देते हैं कि अधिकारी चलता कैसे अधिकार की गति कैसे है पानी में जब तीन प्रकार का निकाल सकते हैं कुल मिला और वहाँ जो चलते हैं वहाँ जब सुबह तक और जब जो हम आपको हम पुस्तक हम पुस्तक भेज रहे हैं आप पुस्तक भेज रहे हैं हम कुछ भेज रहे हैं आपको देखिएगा एकदम स्पष्ट है उसमें कुछ समझे पानी ने इतना सरल रास्ता बनाया है इतना सरल इसलिए आप हमारा पानी ने कहा कि बच्चे बच्चे तक उनका यश पैदा किया था कानून का काम जो है इतना सवाल है बच्चे के खिलौने के सवाल उसको जंजाल बना के धर दिया तो उन्होंने आप एक भाव का जरूर बताइए और हमें अध्ययन दिलाइए जरूर सत्य समाज धातु प्राप्त इस पर हमें जरूर पता करिए और जहाँ हमारी गलतियाँ होगा ठीक कर लीजिए गलतियाँ हमसे हज़ारों हो जाती हैं और हमारे पास अब उसको हो जाने के बाद हमारा समय नहीं होता तो आपको तो भगवान के क्षमा मांगिए धर्म कुछ नहीं Thank you.